जय हो दीपावली की आप सब लोगों को बड़ी प्रकाश में आनंद में प्रेम में शुभकामना आप लोगों के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे लक्ष्मी जी से भी ज्यादा भगवान नारायण की भी कृपा देखिए लक्ष्मी जी की आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे ये बहुत ही आवश्यक है लक्ष्मी जी हमारे जीवन की एक संपदा है जो आपके जीवन को खुशहाल करती है लेकिन केवल लक्ष्मी जी की प्रार्थना कभी मत करना खतरा है अगर किसी की पत्नी को ही आप पूजन करो और पति की उपेक्षा करो तो पति क्या हाल करेगा आपका ये आपको समझदार आदमी अगर भगवान विष्णु की भगवान नारायण की जिनके चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी रत रहती है ऐसे आनंद के परम धाम सच्चिदानंद ब्रह्म जगदीश्वर ऐसे परमात्मा का भी आपके हृदय में स्थान हो तो हमारे शास्त्र इन रूपकों से दृष्टांतों से बताते हैं ऐसे लोगों की चरणों की सेवा लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी आपके जीवन में स्वतः आएंगी और आपके जीवन को खुशहाल करेगी और अगर आदमी बहुत ज्यादा धन की चिंता करे और भगवान की भजन नहीं करे यहाँ तो सब भक्त लोग बैठे हैं आप लोगों का भजन सुन के तो हमारी सुधबुद भूल जाती है, इतने बढ़िया प्यारे भजन होते हैं हम तो रास्ता देखते हैं कि जल्दी से आखिरी रविवार कब आए और ऐसे प्यारे से भजन और ऐसे सुंदर संगत फिर से यहाँ पे आश्रम को जीवंत करे तो जो व्यक्ति अगर नारायण का भजन भी करता है तो लक्ष्मी की स्वतः उसके जीवन में आती है दीपावली हम लोगों का ऐसा ही एक पर्व है जहां आपके जीवन में आनंद भी हो संपदा भी हो संपत्ति भी हो यह दीपावली के जो पांच दिन का पर्व है जो आज हम लोग लक्ष्मी जी का ही पूजन करते हैं राम जी अयोध्या में वापस आए थे उसका भी हम लोग जो है दीपोत्सव मनाते हैं नरकासुर का भी वध हुआ था उसका भी स्मरण करते हैं ये सब आजकल की एक आधुनिक परंपराएं हैं आपको एक चीज पता है कि राम जी तो कृष्ण भगवान के पहले हुए हम्म? और राम जी के आने से पहले भी दीपावली मनाते अगर राम जी के आने के पहले भी दीपोत्सव मनाया जाता था तो वो का के मनाया जाता था उस समय तो भाई राम जी कोई वनवास भी नहीं गए थे और अयोध्या की वापसी का भी प्रश्न नहीं था उस निमित्त से यहाँ पे जश्न हो उत्सव हो उसका भी कोई निमित्त नहीं था हम्म? उसके पूर्व जो हो हम लोगों के प्राचीन शास्त्रों में दीपावली की जो परंपरा थी आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा सुन के कि वो यमराज जी का उत्सव हुआ करता था आज भी जो है हम लोग वो नरक चौदस को हम्म, उसको आज भी यम चौदस भी कहा करते हैं और जो भाई दूज गई है वो भी कहानी यमराज जी की बहन यमुना जी उनके पास यमराज जी गए थे सर यमराज जी से जुड़ा हुआ है आज जो है वो इतनी कुछ बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है राम जी का हुआ आना और उसके उपरांत नरकासुर का विरोध हुआ और धीमे धीमे जो है लक्ष्मी पूजन का भी बड़ा महत्व होता गया तो वो जो है प्राचीन परंपराएं छुप गई लेकिन मूल रूप से ये पांच दिन जो है धर्मराज पितृलोक के राजा यमराज जी जिनके पास एक दिन सब लोग को जाना है तैयार रहो वही जो है आपके राजा बनेंगे पितृलोक में सब दुनिया को छोड़ के घर बार रिश्ते नाते धन दौलत छोड़ के उन्हीं की शरण में जाने वाले यमराज जी की चर्चा जब चली जाती तो ऐसा लगता है कि किसी विलिन की बात कर रहे हैं लेकिन दरअसल यमराज जी धर्मराज उनका दूसरा नाम है ना धर्मराज धर्मराज वो होते हैं जो जिस धर्ममय जीवन की हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके मूर्तिमान रूप है जिन लोगों ने भी अपने संसार की आसक्ति के वजह से धर्मराज को इस प्रकार से भयानक बना दिया है ये उनकी सोच की है दोष है गलती है दरअसल यमराज जी अगर हमको यहाँ पे दुनिया से एक समय ले भी जाते हैं बड़ा मुश्किल काम है यहाँ से ले जाना किसी का घर बाहर है घर पूरे रिश्ते जाते हैं अब उनका है ये काम और वो इतने दृढ़ है आप सोच लीजिए ऐसा काम जिसको भी भगवान ने सौंपा है कितना थैंकलेस जॉब है हाँ? और वो काम इतनी सुंदरता से निष्ठा से संपन्न करते हैं कि किसी से प्रभावित नहीं होते न भावुकता आती है न यहां पे धन दौलत से उनको खरीदा जा सकता है ऐसे बड़े से बड़े लोग हैं जहां पे कोई ना कोई कीमत लग जाया करती है ओवर द टेबल या अंडर द टेबल ये पूरी दुनिया सब जानती है कुछ ना कुछ एक लिमिट आती है कि जहां आदमी बोलता है चलो ठीक है हम तारे गिन रहे हैं जल्दी से काम कर लो हम्म, अभी हम देख ही नहीं रहे निपट जाए ये काम लेकिन धर्मराज को कोई नहीं खरीद सकता है इसीलिए बहुत महान है वो और उनकी पूजा जीवन में जो भी अगर मृत्यु का भी यमराज का स्मरण करता है देखिए ये शास्त्र के सिद्धांत हम लोग दूर हो गए हैं शास्त्र के परंपराओं से हम अनभिज्ञ हैं गीता के अंदर तेरहवें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं जो भी दुनिया भर के गुण हैं तुम्हारे अंदर आ जाएंगे अगर तुम एक चीज का स्मरण बनाए रखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इतना बस याद रखो डरो नहीं एक यथार्थ है हम तुमको डरा नहीं रहे हैं हाँ, हम ये बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चीजों के दुख का इनके संताप का इसकी अवेयरनेस बनाए रखो देखो क्या चमत्कार होता है इतना अद्भुत चमत्कार होता है कि हम ये जीवन जीने योग्य बन जाते हैं जो मृत्यु का ज्ञान रखता है स्मरण करता है वो ही जीवन जीता है और जो मृत्यु का स्मरण भी नहीं करता है वो जीवन भी नहीं जी पाता है और मर भी नहीं पाता है अब मर तो पाए कम से कम अनेकों लोग देखो मरते भी ऐसे हैं भगवान डर लग रहा है अभी हम बंबई गए थे एक बार तो एक सज्जन हमको उनकी पत्नी को कैंसर था वो बेचारी अंतिम समय थी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी तो वो बोलती हमको स्वामी जी से थोड़ा अकेले में बात कर तो सबको उन्होंने बात करा और बोलती स्वामी जी हमको एक बहुत ही भयंकर प्रश्न है हम जानते हैं मरने जा रहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसका कोई उपचार भी नहीं है ये हमने स्वीकार कर लिया लेकिन जो हमने स्कूल में पढ़ा था ये कॉन्वेंट स्कूल में क्रिश्चियन स्कूल में कि यहां से मरने के बाद आदमी जो है वह नरक में जाता है और नरक में जो है वो गर्म अंगारे होते हैं तेल होते हैं और ये मुसीबत हम इसीलिए होने वाला है क्या हमको हम्म, हमको बहुत डर लग रहा है हमको आप बता दीजिए क्या होगा थोड़ा बहुत अगर कुछ अंतिम समय कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो उन लोगों ने उपचार बताया था वो भगवान की बड़ी भक्ति होना बहुत निष्ठा होना वो सब नहीं करा महाराज जी सच्चाई है हम घर परिवार में अनेकों संसार में लगे रहे हमको कोई समय नहीं मिला तो कैसे बचे हमने बोला देखो एक गुड न्यूज है गुड न्यूज ये है कि वो सब गप्पे थी जो तुमको स्कूल में बताया गया था वो पूरा कोरा झूठ था अगर तुम यहां पे हम लोगों के शास्त्र देखते हो तो बोलते हैं कि देखो अगर तुमने कोई कर्म अच्छे बुरे करे हैं तो तुमको थोड़ा फल मिलेगा लेकिन वो फल तुम्हारी मुसीबतों से तुमको उठाने के लिए होता है और फिर तुम निर्माण हो जाते हो जैसे कि कोई बीमारी है डॉक्टर के पास गए उन्होंने उपचार करा ट्रीटमेंट करा तुम स्वस्थ हो जाओ इसलिए करते गीता के छठे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान आज ये सब योग ध्यान आदि की हमको बातें बता रहे हैं अगर भगवान हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें बगैर निकल गए यहां से मर गए फिर रहती सब संसार छोड़ छाड़ के भजन कर रहे न संसार के रहे न वहां के रहे तो कहाँ लटक जाएंगे हम त्रिशंकु तो नहीं हो जाएंगे प्रभु छठे अध्याय के अंदर में भगवान ने पूछ अर्जुन ने पूछा भगवान से भगवान बोलते हैं नहीं अर्जुन नहीं कश्य नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिनता गति तुमने अगर थोड़ा भी भजन करा है तुम्हारी भावना भी उठने की है तो तुम्हारी दुर्गति कभी नहीं हो सकती हाँ इतना अवश्य है कि तुम्हारी कुछ कमियां रही हैं हम उन कमियों को दूर करने के लिए तुमको मरणोपरांत भी मदद करते हैं ये हमारा सिद्धांत है अगर अभ्यास की कमी रही है दो चीज बताते हैं वहां पर बोलते हैं या वैराग्य की कमी रही है या अभ्यास की कमी रही है अगर तुम्हारे अंदर अभ्यास की कमी रही है तो ये निश्चित रूप से समझना अगला जीवन तुम्हारा कैसा होगा पता है जहां तुमको अभ्यास के लिए अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी यह हमारा तरीका यह हमारी सोच है यह हमारी व्यवस्था है ये हमारा दृष्टिकोण है हम किसी को पीड़ा नहीं देते हम सदैव मुसीबतों से भी तुमको उठाने की सोच रखते हैं और अगर वैराग्य की कमी होगी तो बचपन से तुमको हम ऐसे वातावरण में रखेंगे कि ये बाधा भी तुम्हारी दूर हो जाए और पुनः तुम जीवन में स्वस्थ प्रसन्न शांत धन्य होकर जी सको मृत्यु का स्मरण मात्र उत्पन्न करता है एक कहानी हमको बड़ी अच्छी लगती है एक सज्जन जो है एक महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी इतनी सुंदर दुनिया है आप लोग सब दुनिया छोड़ छाड़ के भगवान का भजन कैसे करते रहते हो हमसे होता नहीं है हम कई बार सोचते हैं लेकिन फिसल जाते हैं खाना पीना अनेकों सुंदरता है भोग विलास है हाँ, और ऐसी रौनक है और घूमना फिरने की संभावना है ये सब छोड़ के पता लगे राम राम राम राम राम राम राम राम का प्रयोग तो कैसे कर पाए आखिर वैराग्य कैसे आ पाता है तो महाराज जी ने बोला कि यार देखो एक बात है बड़ा अच्छा हुआ हम तुमसे मिल लिए उसे क्या हो गया हमारा उसे थोड़ा पास आओ पास आया उसने जरा बार उठाओ अपने तो बाल उठाया तेरे यार तीन दिन मैं क्या महाराज जी तीन दिन क्या उसने माथे की बेटा रेखा बोल रही है तुम्हारी कि तीन दिन तुम्हारा जीवन बचा हुआ है अच्छा तुम क्या प्रश्न कर रहे थे बोलते महाराज प्रश्न छोड़ो पहले रेखा ठीक से देखो जरा तुम्हारी रेखा क्या बोल रही है तो बोलते हमने देख लिया बेटा बगैर हम ऐसी बातें बगैर देखे थोड़ी करेंगे तीन दिन बच्चा देखो कितनी खुशी की बात है तुमको तीन दिन का एडवांस नोटिस मिल गया अनेकों को तो नहीं मिलता है हम्म? तीन दिन का नोटिस मिल गया तो अब तुम्हारा जो भी प्रश्न है हाँ वैराग्य वाले प्रश्न कर रहे थे बोलते महाराज जी सब प्रश्न खत्म हमारे भाई घबराहट तुम्हारे तीन दिन बाद जा रहे हैं इस दुनिया से तो बोलते महाराज ये पक्का है ना वो हम आपकी बात मान रहे बोलते हैं हमको क्या है लेना देना तुमसे झूठ बोलने के लिए लिखा है हमको ये विद्या पता है तुमको बता दी भगवान की कृपा भी तुम्हारे हमारे पास भेज दिया था तो तुमको दो भी तीन दिन में कर करा लो बाल बच्चे हैं मिल लो चिट्ठी पत्र मिल लो संभव तो टेलीग्राम वगैरह देखे बुला लो उन दिनों टेलीग्राम का जमाना व्हाट्सएप वगैरह नहीं आया तो वो सब बुला लो और उसके उपरांत मिला के बिल वगैरह भी लिख देना हाँ, और अंतिम समय के लिए तैयारी कर लो तो उन्होंने लंबा प्रणाम करा जल्दी से निकल लिया हम्म। घर गए माँ पहली रात को तो नींद ही नहीं आई उसके बाद उन्होंने धड़ा घर अपनी प्राथमिकताओं को लिस्ट करा बोला ये भी कर लेते हैं ये भी मिल लेते हैं और इससे जिसको देना है वो तो नहीं याद रखा जिससे लेना है वो सबकी लिस्ट बनाई सब लिस्ट वेस्ट बना के तैयार करके उन्होंने जो तीन दिन में इमरजेंसी काम करा है इतनी दक्षता से इतनी समग्रता से इतनी निष्ठा से जीवन भर काम नहीं करा तीन दिन तो रहे एक एक पल महत्वपूर्ण है तो खूब अच्छी तरह से काम करके बस तीसरा दिन आया उसको समझ में नहीं आ रहा करे क्या भजन करे भजन होता कैसे है ध्यान करे तो क्या ध्यान में होता है और पाठ कर लें और ये कर लें और अनुष्ठान कर लें कहा दर्शन कर ले जाके बेचारे ने वो खूब चिंतन मनन करा और बोला चलो महाराज जी के पास अंतिम समय दर्शन कर लेते हैं तीसरा दिन है उस दिन तो बीपी बिल्कुल ही चरम सीमा थे आज जाना है कैसे जाएंगे एक्सीडेंट होने वाला है हार्ट फेल होने वाला है ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है क्या होएगा समझ में नहीं आता है और बेचारा घबराहट के मारे तो महाराज जी के पास पड़ा उसके चेहरा ही रंगत ही बदली हुई थी बोला वो तुम ही हो उसे हाँ महाराज तो मिले मिलाए मुझसे महाराज जी बोला सब मैंने कर लिया जाने के लिए अब ये तो नहीं कह सकते पूरे तैयार हैं लेकिन जितना हो सकता था रेडी है तो बोला तीन दिन कैसे बीता बेटा तुम्हारा तो महाराज जी पहले तो हमने जो प्राथमिकताएं थी उसको हमने लिस्ट करा और उसके उपरांत जो जो हमको लगता था कर लिया जिससे मिलना था मिल लिया और दिन रात भजन भी करा जप भी करा जो भी आता था महाराज जी अभी तक ज्यादा कला नहीं था इससे ज्यादा अकल नहीं है उनको तो बोला अगर पास आओ फिर अब पास जुड़ते उठाओ बाल बाल उठाए उसने बदल गई यार उसने क्या बदल गई बोलते रेखा बदल गई है तुम्हारी तीन दिन की मेहनत तपस्या से रेखा ही बदल गई उसने कहा ये क्या जोक चल रहा है आपका बोलते यार हम क्या करें तुम्हारा माथा तुम्हारी लकीरें बदल गई तुम बोल रहे बदल गई हम्म? बोलते सही में बदल गई बोलते हाँ एक्सटेंशन मिल गया <laughs> थोड़ा तुमने भजन करा उस भजन से तुमको स्वास्थ्य अच्छा हो गया मन अच्छा हो गया अच्छा बात बता रहे तुमने हमसे उस दिन एक प्रश्न पूछा था कि भाई जी दुनिया में इतने प्रलोभन है इतने विकार हैं आप लोग कैसे बचे रहते हैं इन सब चीजों से उस दिन तुम्हारा तीन दिन में क्या हाल था विकार आए उस दिन महाराज जी विकार हमारी कॉलोनी में नहीं आए उसने <laughs> हमारे मन में क्या हमारे आस पास में आए फुर्सत ही नहीं है अब हमारे का समय है और हम ये सोचें कि समोसा खाना और रसगुल्ला खाना है ये भोग करना ये विलास करना है उससे खुंदक है उसने ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया उसको छोड़ूंगा नहीं ये सब चीजों के लिए समय है क्या आपके पास ये सब चीजें फालतू के देखने लगी थी बोलते उत्तर मिल गया है ना मृत्यु का स्मरण मात्र तुमको विकारों से दूर कर देता है बेटा बोलो यमराज की जय हो <laughs> ये जो है मृत्यु देवता का गीता में की भगवत गीता उसके अंदर भगवान ने ये साधना ये ट्रिक बताई है बोलते हैं एक बार स्मरण कर लिया करो और जो जीवन है आशीर्वाद समझ के जियो तुम्हारा जीवन आशीर्वाद बन जाएगा यहाँ किसी चीज से मोह नहीं होने वाला कोई फोकट की चीजों में समय नहीं देने वाले हो अगर कोई दुष्ट मिले भिकारी मिले राक्षस मिले तो वहां पे जो अच्छा कर सके करके हम अपने आराम से अपने रस्ते पे हमारे पास समय नहीं है इन लोगों का प्रतिकार करने के लिए अपना आप आपका स्वभाव कोई बड़ी विचित्र बात नहीं तो ये हम लोग का दीपावली पर्व ऐसे अपने जीवन को धर्ममय करने के लिए भगवान विष्णु को धर्म बहुत ही प्रिय है तो जिनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी है वो भगवान विष्णु को धर्म ही प्रिय है तो आपका जीवन धर्ममय हो आपका परिवार धर्ममय हो ये पुनः आपको शुभकामनाएं हम लोग पिछली बार हनुमान चालीसा में देख रहे थे पहले चौपाई पे हम लोग चिंतन कर रहे थे हम लोग के पास बड़ा फोकट समय है इसीलिए जुगाली करते हैं अब बाकी जो इमरजेंसी में होते हैं वो आके जल्दी से पड़ पड़क चले जाए हम लोग फोकट आए फुर्सत इसीलिए चौपाई को लेके ऐसे गोते खाते हैं ऐसे रमा करते हैं ऐसे मजा लेते हैं जुगाली करते हैं हमारे गुरु जी बोलते थे देखो बेटा कोई गीता का श्लोक हो उपनिषद का मंत्र हो या रामायण की चौपाई हो जुगाली भी करो पाठ भी करो और जुगाली करो लेकिन खूब प्रभाव जितना गाय जुगाली करती है उतना रस मिलता है हम्म? तो ऐसे हम लोग देख रहे थे कि जय हनुमान ज्ञान जय कपी सती लोक उजागर हे हनुमान जी आपकी जय हो आप ज्ञान और गुण के सागर हैं हनुमान जी का नाम हम लोगों ने देखा कैसे पड़ा था कि वज्र पड़ा वज्र के आघात के बाद ही वो जीव थे बालक थे लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इंद्र के वज्र से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता है और कोई नहीं सह सकता है कोई ऐसी योगी नहीं है जो इंद्र के वज्र को सह सके उसके बाद जी पाए लेकिन हनुमान जी का व्यक्तित्व तो वही शास्त्र बताते हैं कि बड़े होके तो छोड़ो भैया बचपन में बाल हनुमान जी वज्र के आघात के बाद भी केवल थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हुई थी उस दिन के बाद वज्र को शर्म आने लगी कि यार हम इसके बानस को तो नहीं मानता पाए इसका मतलब क्या है ये एक सुंदर कवितामय तरीका है ये दिखाने का कि हनुमान जी सर्वशक्तिशाली है शक्तिमान है देखिए ईश्वर के जब हम लोग गुणगान गाते हैं तो भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हैं भगवान का स्मरण करने का ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके हैं आप जिस रूप में भी भगवान को बचते हैं सदैव ये मन में लाए कि आपके भगवान सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है अपने भगवान को कभी छोटा मत बनाओ जितना ज्ञान है जितनी शक्ति है वही आपके भगवान है और हनुमान जी को ऐसा ईश्वर भय बताने के लिए तुलसीदास जी ये नाम देते हैं जय हनुमान ज्ञान में गुण सागर है हनुमान जी आप ऐसे अद्भुत शक्ति के धाम है जिसका वज्र भी बाल बांका नहीं कर पाया है इससे बड़ी उपमा कौन सी दी जा सकती है इससे दृष्टांत कौन सा दिया जा सकता है उस समय जो है वहां वज्र मतलब एटम बॉम्ब अब इंद्र देवता के पास वज्र था इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र से भी जो समाप्त नहीं होता है जय हो हनुमान जी आपकी आप ज्ञान गुण के सागर हैं जय कपी सती हूं लोक उजागर आप कपीश हैं आपकी जय हो आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं आपकी ख्याति है आपका ज्ञान है लोगों लोग उजागर आप ही आलोकित करते हैं पूरी दुनिया को हम सदैव आपका गुणगान गाए आपकी जयकार करें आप ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो और दुनिया में श्रेष्ठता के जो भी यहां पे संसारी मापदंड हैं हम उसकी उपेक्षा करते हैं हम उसको अज्ञान सदैव है हमारा मन ऐसे का ही गुणगान करते रहो जो हनुमान जी के रूप में जो जो चीजें यहां से रिलाइज करता है हम लोग ये पिछली बार सोच रहे थे कि हनुमान जी कपीश कैसे होते हैं कपीश शब्द का मतलब होता है जो कपियों का ईश है कपि अर्थात वानर योनि वानर योनि वैसे ये जो होती बंदर योनि नहीं होती वानर जो है वह कितना सुंदर संस्कृत का शब्द है वानर क्या ये नर है वह शब्द बोलते हैं या ये नर है या नर नहीं है तो उस समय जो है आप शब्द का प्रयोग करते हैं किसी को देख के ऊपर से लगता नहीं है कि कोई इंसान है और ये भी नहीं लगता है पशु है एक ऐसी योनि को जो है वानर जैसे है पूछ भी है शक्ल भी थोड़ी उस टाइप से वानरों की है लेकिन बाकी पूरे नर की तरीके से घूम रहे चल भी रहे फिर भी रहे बात भी कर रहे राज्य राज भी कर रहे किश्किधा के तो जो है पूरा राज्य ही वानरों का था अब कई बार जो है आप अनेकों कबीलों को देखें पुराने जो समय आदमी का मनुष्य की कैसे उत्पत्ति हुई वो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं उसको उसकी आप स्टडी करें तो मनुष्य बानर से कैसे कैसे धीमे धीमे वो दो पैर पे खड़ा होता गया उस पूरी प्रक्रिया में वो एक योनि है जो कि बिल्कुल खड़ी हो गई है मनुष्य की तरीके से है लेकिन आज बाकी जितने मनुष्य हैं उनसे थोड़े अलग दिखाई पड़ते हैं तो देखो कई बार लोग बोलते हैं ये वानर मतलब बंदर तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कितना सुंदर संस्कृत का शब्द है वानरहा क्या ये नर है या ये नर नहीं है जब आपको ऐसी शंका हो मनुष्य योनि की विशिष्टता क्या है राम जी जिस समय अपनी पूरी प्रजा को बताते हैं बोलते हैं बड़े भाग मानुष्यन पावा बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिला क्योंकि भैया यही तुम जगदीश्वर का परमात्मा का भगवान का स्मरण भी कर सकते हो ज्ञान भी ले सकते हो भजन कर सकते हो उनका ये संभव होता है दूसरी योनि में ऐसा ज्ञान नहीं है यही तो विशिष्टता है ना हमारी ये विशिष्टता मानव हनुमान जी की जो योनि है उसके अंदर ये सब विद्यमान है इसीलिए हम लोग उनको पूरी कोरी कोई पशु योनि की तरह से कभी न समझे ये बहुत ही अनुचित होगा बड़ा अन्याय होगा ये जो भी हमको हमारे शास्त्र बता रहे हैं उससे बड़ा विपरीत होगा तो ऐसी जो एक वानर योनि है वानरों को यहां पे कपि बोला जाता है बड़े बलवान बड़े बुद्धिमान भी थे लेकिन साथ साथ उनकी चंचल योनी है ये तो उसमें विशिष्टता होती है कपि होनी है और हनुमान जी ने खुद कई बार कहा हम्म, जिस समय वो लंका से वापस आए और राम जी उनकी बड़ी स्तुति करने लगे बोलते प्रभु हम तो वानर ठहरे हम तो एक दाल से दूसरी दाल पे कूद रहे थे अब आप लोग तो पढ़ते हैं पूरी सुंदरकांड पूरी कथा ये सब बताते हैं आप बोलते प्रभु प्रभु हमने तो कुछ भी नहीं करा ये तो एक दाल से दूसरी दाल पे कूद रहे थे एक जगह डाल टूट गई दो चार नीचे खड़े थे मर गए अब क्या कहें महाराज जी हमने घुसने वाला हम पूरे जो है वह निर्दोष और हमने कोई लंका नहीं जलाई हमारी तो पूछ जल रही थी हम तो इधर उधर पूछ बुझाने के लिए दौड़ रहे थे जल भी लंका महाराज थी तो आपकी चक्कर है आप क्यों आप पहले चक्कर चलाते हो बाद में बोलते हो हनुमान जी क्या बात है तुमने कैसे कर दिया बोलते भगवान आप बिल्कुल अभिमान अपने ऊपर नहीं लेने वाले आप कितना भी हमको चने की झाड़ पे चढ़ाओ हम नहीं चढ़ने वाले हम जानते हैं कि ये सब परिस्थिति ऐसे घटित हुई कि ये सब उस समय हो गया तो आप सब भगवान कर रहे हो कितना उनका सुंदर विवेक विद्यमान है ज्ञान विद्यमान है लेकिन पूरी विनम्रता से वो उस समय भी ये बोलते हैं प्रभु हम तो वानर ठहरे हम्म? विभीषण जी का जो आगे प्रसंग आता है जब विभीषण जी से वो मिले थे विभीषण जी को मन में बड़ी शंका थी कि हम भगवान के पास कैसे जाएंगे हम तो राक्षस योनि हैं और राम जी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे तो हनुमान जी क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं विभीषण जी देखो हम तो वानर योनि हाँ? वानर योनि ऐसी अगर कोई सवेरे हमारे जैसों को देख ले तो उस दिन भोजन न मिले सर ये योनी हमारी है और देखो राम जी की महिमा देखो हमारे जैसे निकृष्ट योनि वाले को भी उन्होंने कैसा आलिंगन करा हुआ है हृदय से लगा दिया हमको सेवा का सौभाग्य दिया है हमको अपने चरणों में स्थान दिया है उस समय भी वो भूलते नहीं है कि हम वाले हुए सदैव अपनी वानर योनि का स्मरण करते हैं हम तो चंचल हैं हम तो बंदर मात्र हैं हम बंदर उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं हम्म, कि जो पेड़ों पे रहते हैं इधर उधर कूदते घूमते हैं जो हनुमान जी अपना परिचय इन प्रसंगों में देते हैं लेकिन उसके उपरांत भी बहुत महान क्या है अद्भुत है वहां कपियों का तो पूरा राज्य था किश्कंदा राज्य ही था अब वैसे तो हम लोग ये देखते हैं कि सभी जानवरों का अपना अपना राज्य होता है शेरों का अपना डोमेन होता है ये जो कुत्ते उत्ते भी होते हैं ना ये जाते हैं इधर उधर उनका इलाका होता है उनके इलाके में दूसरा प्रवेश कर जाए तो दो कैसे दौड़ा के आते हैं और जिस समय जाते हैं कई बार इधर उधर घूमते हैं ना वो पैर उठाते हैं जिस समय वहां पे पेशाब वगैरह करके आते हैं तो आज अनेकों विद्वान लोग बताते हैं कि ये वो लोग अपना लाइफ खींचते हैं अपना एरिया बताते हैं यही जो है शेर भी करता है यही तेंदुआ करता है ये सब जो जानवर करते हैं उनका एरिया है और अगर कोई उसमें प्रवेश कर जाता है तो कुत्ते लोग हम ही जब इनों को ले जाते हैं ना हमारे योगी ईशा को घुमाए सूंघते हैं इतना ऐसे देर तक कई बार सूंघते तो ऐसा लगता है ऐसे पूरी कुंडली निकाल रहे हैं <laughs> कितना बड़ा होगा कितना उसकी हाइट होगी कौन सी जाति होगी कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा हमको कई बार लगता है ये इतना ज्यादा क्या सूंघ रहा है लेकिन इनकी दुनिया ये जाने और उसके उपरांत वहां पर आक्रमण आक्रमण होता है उसके ऊपर जाके वो खुद अपना मार के आते हैं शीट बोलते हैं ये इलाका हमारा तो ऐसा दिखता है हम बचपन में काफी जंगल जाया करते थे पशुओं के साथ अपने परिवार साथ खूब घूमते थे जाके तो ये शेर वेर इन लोगों को कड़ी निकटता से हमने देखा है सब लोगों का ऐसा ही इलाका होता था राज्य होता था क्या मानवों का भी ऐसा ही कुछ राज्य था बोलते थे हम लोग तो रामायण में सुनते हैं कि ये वाली सुग्रीव का महल था भैया हाँ? बाकायदा उनके मंत्रीगण थे और बहुत ही समृद्ध राज्य था और इतना था कि वहां पर भी पॉलिटिक्स होती थी दोनों भाइयों के बीच के अंदर के झगड़े भी होते वाली ने इनको निकाल दिया था और फिर ये किसी प्रकार से वही दोबारा राज्य लेने के चक्कर में क्या क्या पूरी घटना घटित हुई तो सब एक विकसित योनि की तरीके से उन लोगों के अंदर लक्षण देखे जाते थे लेकिन यद्यपि ये कपि योनि एक उत्कृष्ट योनि थी बुद्धिमान योनि थी जिसके अंदर भक्ति निष्ठा श्रद्धा शासन प्रशासन इन सबकी संभावनाएं थी लेकिन हनुमान जी कपीश को नहीं दे दिया कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि कपियों के हनुमान जी नहीं राजा थे ईश मतलब होता है उनका स्वामी उनका राजा उनमें श्रेष्ठ तो हनुमान जी तो कपीश नहीं थे यहां पे हम लोग कैसे बोलते हैं जय कपीश अगर सुग्रीव आसपास हो तो एक गदा लगाएंगे हमारे सर के ऊपर क्या ये बात करते हो कपीश तो हम रहे हैं और वाली तो बेचारा रहा नहीं नहीं तो वाली तो और भी तगड़ा था वो तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करता उसे हमारी पदवी तो हनुमान जी को दे रहे हो ठीक है किसी से बड़ी भक्ति है किसी का बड़ा आदर है लेकिन बात तो सोच समझ के बोलो कभी सुबह नहीं है कभी शाम है ये बात सही है कि हनुमान जी कभी भी कपियों के राजा नहीं हुए और ये भी सही है कि कभी राजा बनने की ख्वाहिश भी नहीं हुई लेकिन ये भी सत्य है कि वो सब राजा लोग बने वो हनुमान जी के बने हनुमान जी का सहयोग बल साथ उनके पास था तभी जाके सुग्रीव राजा बन पाए वाली के साथ जो है उनका संग्राम हो पाया उसमें हनुमान जी कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था राम जी के साथ मिलन करवा के वो जो बढ़िया संगठन आजकल की भाषा में युति महायुति और युति होती है तो बोलते हैं वो युति बनाई गई और उसके वजह से ही वाली का जो है संहार हुआ उन सब के पीछे हनुमान जी का तो जो राजा लोग हैं उनको राजा बनाने के पीछे हनुमान जी का तो ऐसा व्यक्तित्व तो है कि वो जहां गए जो उनके भक्त थे सबको उन्होंने राजा बना विभीषण से मिले वो लंकेश बन गए और जहां पे राम जी के साथ जो ऐसी सेवा रही कि आने की संभावना नहीं थी अयोध्या लेकिन अयोध्या को भी अपना राजा मिला उसमें कितना बड़ा योगदान हनुमान जी का है हनुमान जी नहीं सोचते हैं ऐसा लेकिन हम लोग देखते हैं उनकी सेवा देखते हैं हनुमान जी के दृष्टिकोण से तो सब राम जी की कृपा है भक्त तो सदैव भगवान की कृपा देखता है तो एक ये कपीश शब्द का मतलब जो बहुत ही श्रेष्ठ है कपियों में किसी को भी राजा तक बनाने के लिए वो समृद्धि वो वैभव वो पद अगर हनुमान जी के प्रति आप समर्पित होते हैं तो आपको जो भी जीवन में चाहिए खुद महादेव जी की तरह शमशानवासी हैं जैसे भगवान शंकर देखो कैसे हैं खुद रहते हैं फकीरों की तरीके से और बड़े बड़े जो है कुबेर भी आके उनके पास आशीर्वाद लेके जो कुछ भी उनको प्राप्त करना है सब मिल जाया करता है ऐसे फकीरों के आशीर्वाद से खुद विरक्त है मस्त है धन्य है अपने अंदर कोई मोह नहीं है पद का धन दौलत का नहीं है लेकिन अगर आपको चाहिए तो हमारा आशीर्वाद मानना काफी है अगर हमको मन में आ गया कि हाँ ये सहयोग ये इनको पद देना चाहिए तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो किसी को कपीश बनने से रोक सके लंकेश बनने से रोक सके ऐसे हनुमान जी का अद्भुत व्यक्तित्व है कपियों में श्रेष्ठ एक सज्जन ने यहां में बताया देखो भैया राजा कोई गद्दी पे बैठ के थोड़ी होता है, राजा तो वो होता है वो असली कपीश है जो सबके दिल में राज्य करता है जय कपीश हूं लोग को जाकर हनुमान जी जितने वानर थे इस सत्य को देखो देखो कई बार जीवन में दो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं गुण और कर्म एक चीजें कर्म से प्राप्त होती है और एक चीजें गुण से प्राप्त होती है कर्म से प्राप्त होती है कि कोई आपसे बड़ा हो गया कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ है वो कर्म ही है कि वो बैठ गया जाके अभी जो है का लड़का है उसका तो कर्म ऐसा है कि उसको ऊंचा पद मिल ही गया है सब समृद्धि वैभव गाड़ी घोड़ा ऐश आराम सब मिल गया कर्मों का खेल और एक चीज होती है गुण आपके कर्म नहीं भी हो गुण ऐसे हो कि आप जीवन में उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकते हैं जो कर्मों का खाता है वो टिक नहीं पाता है जो गुणों का बनाता है वो स्थायित्व तो प्राप्त करता है अगर आपको कर्म से कुछ मिल गया अब देखिए कर्म से जो मिलता है उसके आज के हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जीते जाते दृष्टांत हैं हमारे राहुल गांधी कर्म से उसको एक पद मिला था लेकिन आज जीत जाने की दुर्दशा हो गई है कि लोग बोलते हैं कि भैया हमारे वहां इलेक्शन है राहुल को मत भेजना हाँ। हम लोग ठीक है हम लोग निपट लेंगे क्योंकि जहां जहां पैर पड़े संतन के हुआ वहां बंटा धार ये जहां आता है ऐसी बातें बोल के जाता है कि हमारा रगड़ा ही हो जाता है मुसीबत हो जाती है तो इनको मत भेजवा सोनिया गांधी को भेज दो प्रियंका को भेज दो प्रियंका को इनको मत भेज क्यों प्रॉब्लम है उसने कहां पे क्या बोलना चाहिए बेचारे को वो भी अकल नहीं है कैसी जो है भावना रखनी चाहिए ये अकल नहीं है देखिए यहां पे कोई कर्मों से एक पद को प्राप्त करा हुआ है लेकिन उसके अंदर गुण ही नहीं है वैसे आप कर्म से कोई गद्दी प्राप्त कर सकते हो लेकिन अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आप टिक नहीं सकते वहां और कोई गुणवान के मंत्रणा से ही आप काम कर पाओगे और जो वो गुणवान है वो ही वास्तविक वहां पे संचालक हुआ करता है वो ही सब लोगों का मालिक होता है सब जानते हैं कि ऊपर से देखो हमारे मौनी बाबा थे प्राइम हाँ? मिनिस्टर मनमोहन हाँ? कौन मनमोहन सिंह तो हमारे जो है वहां बड़े शांत उनका व्यक्तित्व ही ये प्रोफेशनल आदमी थे बड़े प्रोफेशनल अर्थ अर्थज्ञ थे अर्थशास्त्री थे एक विद्वान आदमी अपने काम में लगा रहा बेचारे को कर्म वशात पद मिल गया लेकिन कौन संचालन कर रहा था कोई और ही संचालन कर्मों से जो भी आदमी कोई चीज प्राप्त होती है टिकाता के भी गुणवान होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कर्मों की जिसको भी जो है वह आज प्राप्ति हुई है फल की उसको सदैव स्वीकार करना आना चाहिए कई बार आपके बॉसेज होते हैं सीनियर होते हैं नेता होते हैं अफसर होते हैं हम जानते सही लोग नहीं हैं लेकिन ये भी तो सत्य है ना कि उनके कर्म में हाथ बैठे हुए हैं जो भी आदमी अगर कर्म से किसी पद पे बैठा हुआ है किसी के घर में सास ससुर लोग हैं किसी की पति पत्नी है कर्म है कि आज यही बैठे हुए हैं कर्मों से जो भी आदमी को प्राप्त होता है उसकी समत्व के साथ स्वीकृति होनी चाहिए कोई दूसरा तरीका नहीं एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक फैक्ट है कि ये बड़े हैं हमसे ये बुजुर्ग हैं हमसे ये सीनियर हैं हमसे ईश्वर इच्छा है हम तो शायद भगवान को सिखा रहे होंगे हम जानते गुण नहीं है उसके पास दुष्ट भी है वो पापी भी है लेकिन ये भी तो बात है कि वो सत्य वो बैठा हुआ है ऊपर कर्म से जो भी आदमी पद प्राप्त करता है आप निश्चित रखो कर्म से वो आदमी टिक नहीं पाएगा और वो वास्तविक राजा नहीं होता है जो व्यक्ति गुणों का खाता है और गुणों के लिए आपको पूर्व की कोई धरोहर नहीं चाहिए आपको पास्ट का कोई हेरिटेज नहीं चाहिए कोई बैंक बैलेंस पास्ट का चाहिए कोई जरूरत नहीं गुण आदमी इस समय भी कैसे भी अपने बना सकता है अपनी सोच रखे अपना जीवन का दर्शन रखे और आप वो महान गुणों का संचार अपने मन में कर सकते हैं जिसके वजह से यहां पे बड़े बड़े राजा लोग भी अपनी गद्दी पे बैठ सकते हैं ये गुणों की महिमा है जिस समय हनुमान जी को हम लोग बोलते हैं जय कपीश तो निश्चित रूप से हनुमान जी के कर्म के दृष्टिकोण से कोई गद्दी नहीं थी लेकिन गद्दी के बैठने वाले भी जानते थे कि नीचे वजह से गाड़ी चल रही है तो कौन राजा है असली भैया जय कपीस जय हो हनुमान जी आपकी इसीलिए पहली लाइन में क्या कहा गया जय हनुमान ज्ञान गुण आप गुणों के सागर हैं प्रभु हे हनुमान जी आपके अंदर ऐसे गुण विद्यमान हैं कि राजा का पद अगर आप चाहो तो चुटकी की बात है कोई फर्क नहीं पड़ता आप जहां चले जाओगे राजा गाली दिलवा देते हो उसको आपके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है लेकिन यही सुंदरता है कि जो ऐसे महान गुणों से युक्त होता है वो गुण क्या है हम लोग उसी की वंदना कर रहे हैं हनुमान चालीसा में हनुमान जी के एक से एक बढ़िया बढ़िया गुण बताए जाते हैं पूरे हनुमान चालीसा में विविध गुणों का ही वर्णन होता है उनके ज्ञान की चर्चा होती है उनके गुणों की चर्चा होती है ऐसे गुण हैं कि जिन गुणों के वजह से वो राजा की तरह से जीते तो भैया हनुमान जी का ये जो नाम है ना कपीश बहुत मजेदार नाम बहुत बढ़िया नाम वो क्या बताता है पता है आपको बोलते हैं यार गरीब गरीब घर में पैदा हुआ हो चिंता मत करना तुम्हारी नाक कान टेढ़ी है तो भी चिंता मत करना तुमसे कहीं ज्यादा गए गुजरे हम तुम तो तो भी मनुष्य योनी हम तो वाहन योनी यार हमको देख के लोगों को शंका रहती इंसान भी है क्या ये है? हमारी तो वो यूनिट है यद्य हमारी शक्ल सूरत हमारा जो है वह सामर्थ्य ऊपर से परिवार और पुराने कर्म घर बार संपत्ति समृद्धि कुछ नहीं हमारे पास यही तुमको कपीस शब्द से प्रेरणा लेनी चाहिए कपीस शब्द हमको यह शिक्षा देता है कि तुम्हारे पास शक्ल सूरत धन संपत्ति ऊपर से कुछ भी बाहर दुनिया के दृष्टिकोण से तुमको कुछ नहीं मिल रहा है पेड़ों के ऊपर कूद कूद के फल खा खा के जीवन जी रहे हो लेकिन हम कभी सुन सकते हैं कुछ ऐसा ज्ञान है कुछ ऐसा गुण है जो कि असली डिफरेंस क्रिएट करता है वो समझ जाओ हनुमान जी की वंदना उन ज्ञान और गुण की वंदना है जिसके वजह से हम इतनी छोटी जोड़ी में पैदा हुए हैं लेकिन आज शिखर के ऊपर बैठे हुए हैं यहां दुनिया के समस्त भोग विलास हमारे लिए परछाई की तरीके से उपेक्षणीय हो गए इतना आनंद धन बल संपत्ति समृद्धि जो इतनी अंदर आ गई है बैंक वैंक में नहीं है लेकिन राजा बन के घूम रहे हैं हाँ। ऐसे हमारे हमको अपने फकीरों को देखने ही बड़ी प्रेरणा है कमंडलो धारी हैं और आराम से फक्कड़ महाराज और जाते हैं कोई राजा साहब भी आते बोलते आओ महाराज पधारो पहली बार हमने सुना बोला क्या बात है महाराज महाराज को हम खाना बनाने वाले को बोलते थे कि क्या खाना बनाने वाला है क्या हम्म? उनके खाना बनाने वाले भी फिर एक आय के महाराज बोलते राजा नहीं ये महाराज ये महाराज इसीलिए हैं क्योंकि पहली बात तो इनको बाहर के धन दौलत राज्य समृद्धि की जरूरत नहीं है पूर्णता की प्राप्ति के लिए देखिए वास्तविक गुण और ज्ञान क्या होता है राजा बड़ा बलवान अपने आप को समझता है क्योंकि देखो राज्य है हमारे पास धन है हमारे पास ये हमारे पास अरे यार नहीं हो तुम्हारे पास तो भी ऐसी मस्ती में घूमो तब जाके तुम्हारी विशिष्टता है दुनिया भर की तुमको चीजों पे आश्रय की जरूरत होती है पराधीनता की जरूरत होती है ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो तभी जाके बलवान होते हैं क्या तभी पूर्ण होते हैं कैसी सापेक्ष पूर्णता है तुम्हारी और सापेक्ष पूर्णता पराधीनता से युक्त जीवन पराधीन सपने हो सुख नहीं क्यों तनाव होता है तुमको वो करो हमारा महाराज जी वह टेंशन हो रहा है वह टेंशन क्यों टेंशन हो रहा है क्योंकि पराधीनता का जीवन है तुम्हारी सोच ही ऐसी है कि जब तक तुमको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा तुम यहां पे शून्य तुल्य रहोगे हनुमान जी ऐसे नहीं सोचते ये भी प्रेरणा हनुमान जी से लो देखो कोई राज्य नहीं है लेकिन राजाओं के राजा बने पे घूम रहे हैं इसीलिए हनुमान जी को देख के हमारे फक्कड़ बाबाओं का याद कर लेना साथ साथ जय कपीस में वो भी सुगंध है मस्त मौला है खुद ही बलवान है हमारा बल हमारी पूर्णता हमारी समृद्धि किसी चीज पे आश्रित नहीं हम ही पूर्ण है ये ज्ञान हनुमान जी का है और जिसके अंदर भी ऐसा बल विद्यमान होता है ऐसी प्रेरणा विद्यमान होती है ऐसा बड़पन विद्यमान होता है वो जहां पर भी बैठ जाएगा ना सबको सब चीज बर्बाद प्राप्त करवा देगा यही हम लोग की संस्कृति है यही हम लोग के शास्त्र कह रहे हैं गीता हमको बताती है कि अर्जुन तुम्हारे जीवन में लक्ष्य जो है ना पता क्या होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए लक्ष्मी जी आ जाना हमारा बैंक बैलेंस भर देना लक्ष्मी जी फिर जब पूर्ण हो जाएंगे उसके बुद्धू मत बनो बच्चे अब उठो जो है बचपने से जलोक अपने अंदर इस घोर मोह की निद्रा से अर्जुन तुमको सपना देखना चाहिए तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए प्रजहाती यदा का मान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ रोचते अर्जुन तुम अपने अंदर अपने आप में पूर्ण हो सकते हो क्या सोच भी है दरअसल तुम्हारी पूर्णता के लिए तुमको बाहर की चीजों की जरूरत नहीं होती है अगर तुम सोचो कि तुमको बाहर की चीजों की जरूरत होती है तो कितना महंगा सौदा है तुम सोच लो और अगर तुमको हम आशीर्वाद भी दे दें कि चलो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे तो तुम सोचो तो भैया बुद्धिमान आदमी हो क्या बाहर की चीजों पे थोड़ा आश्रित होने के बाद तुम बलवान होते हो ऐसा नहीं है ये सोच गलत है ना शुरुआत में हम जो है थोड़े पे आश्रित थे अब ज्यादा पे आश्रित होने लगे अब देखो विदेशों की कैसी विकृत सोच होती है वहां बोलते हैं ये हम तो होना चाहिए करोड़ के मालिक हो गए पहले एक लाख था एक करोड़ हो गया अब दस करोड़ हो गया सौ करोड़ की पार्टी है एक सज्जन जो है अभी हमको बम्बई से किसी ने लेगा अमित जी एक जो है ना हमारे घर में वो गणेश जी का पर्व था और वो फलाने ज्वेलर की लड़की आई थी और वो तो 500 करोड़ की पार्टी है वो भजन गा रही थी इससे क्या होता है भजन भजनगारी थी वो इतने इतने सौ करोड़ की पार्टी है उससे क्या लेना देना है कि भजन का कोई दूसरा सुगंध आने लगती है क्या से कुछ लेना देना नहीं है ये तुम्हारी सोच भी कैसी है दरअसल उनको ज्यादा गरीब देखो हम्म? जो आदमी पहले जो है हजार पे आश्रित होता था और आज एक करोड़ पे आश्रित होता है कौन ज्यादा दीन है पहले आप छोटी लकड़ी लेके चलते थे आप मोटी लकड़ी लेके चलते कितने कमजोर हो गए कौन ज्यादा कमजोर है और असली बलवान तो तब है आज इस समय आपको कोई लकड़ी की जरूरत ना पड़े कोई लाठी की जरूरत ना पड़े कोई आश्रय की जरूरत ना पड़े ये हमारे शास्त्र मनीषी लोग बताते हैं हनुमान जी वो व्यक्तित्व हैं वही श्रेष्ठ कवि कपी है किसी पे आश्रित नहीं जब भी आप बोले जय कपी आपके दिल में ये विचार आए क्या मस्त तो मौला है मौला वाला नहीं है फायदे तो ये तो बोलने की बात है मौला लोग कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं मौला लोग तो झगड़ते हैं राक्षसों के पहले आपस में कट मर के खत्म होने वाली योनि है एक दिन शिया सुननी एक दूसरे को मार रहे हैं कौन किसको मार रहा है वो पुरानों में कथा आती थी ना राक्षस हैं एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते हैं अभी वो अध्याय चल रहा है वहां के वहां आपको दुष्ट यहां भी घुस आए हैं यहां भी मुसीबत कर रहे हैं लेकिन ठीक है ये केवल मुहावरा है मस्त मौला हनुमान जी मस्त हैं लेकिन मौला नहीं है <laughs> संशोधित वाक्य तो ऐसे मस्त है हनुमान जी जय कपीश जब जब कपीश बोलो तो फिर ये याद करो कि वो किसी पर पराधीन नहीं है राज गद्दी भी राजा लोग भी उन पर आश्रित है वो तो अपना सपना देखते हैं कि हम तो सबके दिलों पर राज्य करें हनुमान जी जिस समय लंका से वापस आए हाँ, तो उस समय जामन जी भी बोलते अरे भगवान ये तो आज जितने वानर थे सबकी रक्षा हो गई सबके प्राण बच गए महाराज जी ये हनुमान जी ऐसा काम करके आए कि हमारी जान बच गई प्रभु हाँ, कहीं इनकी जान बचा लेते हैं कहीं उनकी जान बचा लेते हैं कहीं इनको धन्यवाद उनके हृदय से स्फुरित करवाते हैं हनुमान जी एक मात्र ऐसे पात्र हैं जिनको राम जी सीता जी लक्ष्मण जी भरत जी सब लोगों ने कुछ ने तो अपना पुत्र कहा कुछ ने बोला भगवान आप तो सब कुछ है हमारे सीता जी ने किसी को पुत्र नहीं कहा केवल हनुमान जी को कहा राम जी ने किसी को पुत्र नहीं कहा केवल हनुमान जी को कहा क्या पद प्राप्त कर लिया है ऐसे भगवान देखिए हम तो भगवान को चाहते हैं ये एक चीज है हम तो भगवान का आदर करते ही एक चीज है लेकिन जिस दिन आपके भगवान आपके ऊपर ऐसा स्नेह बसाने लगे वो प्रसन्न हो जाए वो आपको अपना पुत्र समझने लगे आप उनके स्नेह के पात्र हो जाए ये आपके भक्ति साधना ज्ञान और गुण का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है जय करती से तीनों लोक को जागर तीनों लोक में उनकी ही ख्याति हुआ करती है हनुमान जी की ख्याति यहाँ पर मनुष्य लोक में देवताओं के लोक में असुरों के वहां तो टेररिस्ट की तरह से देखे जाते हैं सबसे भयंकर तीनों लोगों में जिनकी ख्याति है ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करा हनुमान जी ने हनुमान जी के व्यक्तित्व की सोच भी बड़ी रोमांचकारी है ऐसे बलवान पूर्ण प्रेरित प्रेमी करुणा में ऐसा व्यक्तित्व हो तभी भैया मनुष्य जीवन आशीर्वाद है अगर हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व नहीं बना तो रोगी हैं हम पराधीन है मोहित है संसारी है पापी है केवल इसीलिए ऐसे को शुरुआत में अपने हृदय में बैठाना चाहिए हनुमान चालीसा का डेली पाठ करने के द्वारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी हूं लोग को अभी तो बहुत कुछ शेष है कपी शब्द में अभी तो श्री गणेश आ भैया ये जुगाली बहुत बची हुई है अभी हाँ। अभी जो है अगली बार हम लोग इसको कुछ और पहलू के ऊपर विचार करेंगे देखिए उसमें थोड़ा संकेत कर दें हम आपको ईश बोलते हैं शिव जी को हम्म? तो सदैव ईश्वर शिव जी के लिए शास्त्रों में वेदों में प्रयुक्त होता है वो जिस समय रुद्र कपि का रूप धारण करके आते हैं वो शिव जी जो रुद्र कवि की तरह प्रस्तुत होते हैं प्रकट होते हैं अवतरित होते हैं उस समय भी नाक कपीश पड़ता है उस समय आप हनुमान जी को देखते हैं कि वो शिव जी हैं और शिव जी का मतलब क्या है इतना सबको ज्ञान होना चाहिए जिसकी राम जी भी पूजा करा करते हैं वो शिव जी हनुमान जी की तरह आए अब इससे बड़ी क्या व्याख्या हो जय कपीर उस समय हम राम जी को भगवान शिव जी को देख रहे हैं हनुमान जी रुद्र के अवतार कहे जाते हैं ना रुद्र के अवतार की अब वो भी थोड़ी कहानी उसका रहस्य है उसके भाव वो अगर हम मना नहीं करें फिर क्या मजा आए अभी तो थोड़ा सा ऊपर मलाई मलाई चखी है हाँ। तो अभी इसका जो है कोई बहुत सुंदर अर्थ है जो कि जरूर जानने चाहिए सोचने चाहिए विचारने चाहिए वो अब हम लोग अगली बारी कर सकते हैं इस बात का समय यहाँ पे ही समाप्त होता है श्री राम